ए अहले किताब अपने दीन में हद से ना गुजरो और अल्लाह ताला पर हक के अलावा कुछ ना कहो यकीनन मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह ताला का रसूल और उसका कलिमा है जो उसने मरियम की तरफ अलका किया और उसकी तरफ से एक रूह है चुनाचे अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ और मत कहो कि तीन हैं तुम बाज आ जाओ यही तुम्हारे लिए बेहतर है यकीनन अल्लाह ताला सिर्फ एक ही मबूद है वो पाक है कि उसकी कोई औलाद हो उस उसी का है जो भी आसमानों में है और जो भी जमीन में है और अल्लाह ताला ही वकील काफी है